ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੈ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਰੀਆ 6 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ आकाशवाणी सिंधी सर्विस में दो हज़ार इकहत्तर तो सत्तर हज़ार अठ सौ अस्सी किलोमीटर तक हलाना तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस रोज़ सां एयर ऐप ऐं डी डी फ्राइडे ते ॿुधी सघंदा आहियो प्रोग्राम शुरू थी चुको आहे डिटेल्स कुझु न करायो थोरी देरि में अवाम भारत कलाम जन जो मिठड़ो आवाज़ मिलंदो तंहिंखां पोइ तस्रो शुरू करे प्रोग्राम पेश कंदुसि तोखे ख़बर कहिड़ी ये तो इसमें प्रोग्राम में जी भी चूड़ है ये आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस है ये मुझे भगत कौराम जन जो मिठड़ो आवाज़ ॿुधो I don't know, आकाशवाणी की हिंदी चर्चा है और पेश तकरार कर रहे नरसिंह जी चट्टोपाध्याय जी हम आज के अबुधाबी में आवे व्यापार जमा देने की डब्ल्यू टी मेंबरों जी तेरह गुजरात कॉन्फ्रेंस पॉलिसी टाइम में गुजरात ऐलान के अख्तियार करेंगे इदारे के मुस्कुल के एजेंडा की अख्तियार करेंगे 人ぐらい皆さん参加されたため足ともに32014को तकरारन की जलकान जिला के सरस्वती अख्तियार खान जी वचन देते हैं तो इसके अलावा उन्होंने मुल्कन एक तमाम घट तरक्की के मुल्कन की खास ट्रीटमेंट म्यूजिकल उन्होंने कबूल तो दुनिया के में कलम की बरकरार रखी हुई जिनके गाड़ी एम सी थर्टीन में मुकम्मल कॉलरिंग लगभग हर काम का जी व्यापारी ने फिर अबू धाबी में आलमी व्यापारी में इदारे हिज्जा में मुलाकात की ऐसा करने आलमी तजारती कायदे जो इंतजाम से बर्पा करेगा अभिलाषण जी के सर पर आए तो कोशिश की कि सभी अभिलाषण की जगह जाएगा मैंने तो आलमा तो अलग अलग ब्लॉक्स में पकड़ जगह गए जी सर तीन सालन पुराने इबारे में जाकर आना मुश्किल थी पेवाए इन्होंने आलमी तजारत जो पंजाब सरकारी सदन है हिकुरत में तजारत चाहिए एक तो चावल जो बदल ब्लॉक्स तो लड़का पेश चिरे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस में लगभग चार हजार वजीरें अफगार व्यापारी अमलदारन एडमिन एजेंट हिस्सा एंड डब्ल्यू टू जो एक सौ मेंबर रखी था गडोगड ऑब्जर्वर्स ए अलावा शहरी समाज व्यापारी ए आलमी मीडिया एसी पर शामिल हुआ डायरेक्टर जनरल ऐलान करता है पंजाब मिलियन जो पंजाब मिलियन की दाल जो फंड भरपा कया हुआ जो औरत व्यापारियों के अभिनव मुल्कन में ताकतवर बनाने Hingga melestarikan hayat menuju Brazil. Saya cerita berarti सरकार एकदम आजाद व्यापार करार के सामने करने जो ये जो असर मुल्क पे नए साल पाए नजर आए जाके पड़ताल करे सभी तबकन जी गणतंत्र के बारे में रखने कोई सही कही होंगी यार की तमाम ये नंदन सावन के टाइम पर रविंद्र कान की ध्यान में रखे हुए क्योंकि धनी मछली महान सफल श्रवण साधन के नुकसान बसी रहा है यदि भारत गुरु के लिए आएगा तरक्की के दौरान मलकन पाना लक्ष्मी मारुति जी के राय उन्होंने दिल के बंद किया है अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन पर भारत चीन पर आंदोलन का आज जिस सब मुखालफत की जिसमें सेवा पक्षी सबको पिघलाने पहले हमारा खाद खुराक सुरक्षा सुरक्षा लाल ललकारा है हमसे थिएटर में आलमी माशी बेबकरी की गढ़गढ़ रेड सी क्राइसिस रशिया यूक्रेन मार इसराइल हमास तकरा रेंजी पेंटन के पर खड़ा रहा जो ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂಎಸ್ಪಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎನ್ನ ಕಾರಣ ಹೋರಾಟ ಹೊಸದರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳ ಅಥವಾ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಹೋರಾಟಗಳು तकरार के हल्का एंड डब्ल्यूटीओ में सुधारों के आना नगर निकाय तब्दीली की Walka Alkalena Werycha katab innego tamanych jutina typa zornaczą. Będziemy mieli dobry tłusty, dobry to usunąłem lepiej bez wysokowy. Mówiąc ramię, takim super amoniem, tak ręki, alkohol i gustyczny वन इलाके वाले लहर करार पर सही करेगा कॉन्फ्रेंसिस आइलैंड से तो जो मकसद है व्यापार एसलत के बना देगा तो पूरी वजरत कॉन्फ्रेंस का के अबू धाबी में पूरी थी तो हमने घरेलू रक्षा हलकान की मिलने की कोशिश की हुआ है और दूसरी जो चटोपाध्याय जी लिखी तस्वीर तो जो संगीत छोड़ रहे हैं ये आकाशवाणी जी सिंधी सरस आहे आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस हिकु हज़ार एकहतरि ऐं सत हज़ार टे सौ असी किलो हर्ट ते ॿुधी रहिया आहियो आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस वॉइस ऑन एयर ऐप ऐं ॾाढी फ्री डिश ते पिणु ॿुधी सघंदा आहियो మీరు వేసే ప్రకారం వారు తగ్గిపోతారు Thank you. सवा पाकिस्तान में घणा घणा जेके के कलब ख़तमु थियण जो नालो नथा खणनि पर इन सभ में हिकु वॾी आज़ादी मिली आहे आवाम खे पंहिंजा वीचार पधरा करण जी ख़ासि करे लोकशाही में पर असां पाकिस्तान मुल्क में उनखे पिणु पंहिंजे ॾिनो पियो आहे हिनखे बाबति सां सिंध एक्सप्रेस में एडिटोरियल छा था उलान आहे आवाम खे ॼाणण जी आज़ाद आज़ादी महसूसु थी कंट्रोल में लेकिन किसी भी दुनिया में सोशल मीडिया इजहार की आज़ादी जो जरूरत ही नहीं है ये मान जो कि प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पहुंचने से सघन और सोशल मीडिया पंहिंजा ख़्याल वञण जो हिकु बहितरीनु प्लेटफॉर्म आहे जेतिरा मसइलो केतिरनि मसइलनि खे अध्यापन कंदा आहिनि तंहिं करे माण्हुनि जा मसइला पिणु कंहिं हद ताईं दूरि थियण लॻा आहिनि में प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे पाबंदी लगाना है ये एक आम गल है पर जैसे कहीं चुनल हुकूमत या पार्लियामेंट्री निजाम में का सियासी पार्टी को सियासतदान अहिड़ी ॻाल्हि करे तो थो जो पंहिंजी इज़हार जी आज़ादी ते पिणु समझौतो करे रहियो आहे पीटीआई जे दौर सोशल मीडिया खे रिकलाइज़ करण जी कोशिश थो हिन खे धार वञण जी कोशिश कई पर तंहिं हूंदे बि उहो थी न सघियो घणा वक़्त समय कढी जे बावजूद बि सभिनी पार्टियुनि सां वधीक पीटीआई खटी आई सीटूं हिन जो सामनो हुई सोशल मीडिया जे जो बेहतर के लिए पीटी हुई पूरे मुल्क में अंग्रेज नतीजे अंगेज रहे हैं एक बार बेहद सोशल मीडिया पर पाबंदी मैं उनकी कोशिशों की गई हमारे साथ आज एक खबर ये जैसे बताया गया था सोशल मीडिया के की पाबंदी लाइफ सेलेक्ट में एक थीरी पेश किया है जिसमें एक पार्टी अल्लाह ताला की जोर का लिखा हुआ है सोशल मीडिया पर लगा लगाना थीरा पेश किया हुआ है जैसे कल सुना गया एजेंडा में शामिल किया गया Thierry Guimaraes जाना है social media पाकिस्तानी फौज के खिलाफ मुनफी और बदनाती मदर प्रोपेगेंडा यानी मरतबा फौजों के खिलाफ इस्तेमाल करने लगी है टैंक पाबंदी लगी हुई है और वापस सरकार पार्टी जो चाह रहा था सरकार जो आमदन पे मेरा मत के जी बुनियादी संकेत खत्म कर दी ලැගලක්ගලයි සුදුමාන්ගේ එජාතිය පබලෝ ආගයන් සමසලහන් සගනේ කියන කය පරිකසාන් අවයන් පංජ සහර කලිරන්නේ तैकरे इन तरह की हरकतों सियासी पार्टी पहले आजादी देकर इंजीनियरिंग पहले सियासी आजादी दिला रहे हैं चाहे वो दौर पर है जो आनंद की गलाने जो मौकोला ने आनंद की गलाने फारूकी ने या खान की इंसान कुछ ऐसा रोके या कि इंसान ने इनकी इनको को पाने की कोशिश की है जाकर बेहतर आए तो सियासी पार्टी अदालत देंगी कमकार की कारकर्दगी बेहतर का मुनसिब जमहूरी के सफर में रहने को भेजा या आवाम के हालात का जी बताएं बेहतरीन मुमकिन थी सघे जैसे आवाम जी राय के ॿुधो वेंदो आवाम जी राय जो एतराम करेंगे वेंदो पर उन खां अवाम जी आवाज़ बि ख़ासि थी वेंदी ऐं सिंध एक्सप्रेस में शायद हिन इंटरव्यू ॿुधायो उन्हनि अवाम खां ॻाल्हाइण जी आज़ादी न थियो सा सिरा ठंड की तरह धार दूँ तीन हुसैन திருவட்டன் தாரே ஜுவா सलो आता खंड से संहार दो एक्सप्रेस में इसको कलकत्ता वापस में लिखा है गोदाम में खराब थे का जो एक्सप्रेस है лекалайт welcome අටජිවරිය ලකින් තනිකර සබකරවදී කතාව වලකයි සෝම් යන්නේ පිටනේ තා ජිතිමන් වේවිය पाकिस्तान का कपड़ा करने धरवाए तब देखिए बारह पकड़ के गए ट्विटर महा को कह गए जो आम लोगों की खरीद का रखा बाहर आए तब कहीं आवाम वाले सस्त ऑटो में सकते हैं लाजमी है पर काबू आवाम बेल मिलेंगे मानी करना ذكر ගොඩගන්න රැකල කාලාස්මගේට රැකල හසානටන කාත්තාම් තිරයයි थोड़ा जिले अंदर पंज अरब रुपयनि जी कणिक चोरी थियण जो जेको स्कैंडल आया तंहिं में बि का बि जांच कई नतीजा कोन ॾेखारी वई आहे खुलन आसमान था रखियल हजार टन कणिक बचण जी का कोशिश कोन पई कई वञे खुराकी खाते जा मंदा आहिनि करप्शन स्कैंडल खां बचण लाइ कणिक बरसाति में हवाले कही है हजारों जो न कणिक खां इसमें जो खबरों का अंजाम आया पर को भी सोल्यूशन कौन आए नतीजे में अवाम तो को बहुत एजुकेशन अटो कोन का मिले हमारा सरकार महांगे ते तमाम महांगे ते कणक बहन घुराई थी तहिमा तैयार कर ॾाढो अवाम खे हिकिड़ो पियो करे जंहिं करे अवाम लाइ सस्ते अटे जी उमेद करणु नंबर खां ॿीहर घुरणु बराबरि आहे घणनि शयुनि में खिलाफ कार्रवाई होना पाई कहीं नहीं है మన జిగే గోదాం జిగే కనుక खिलाफ थे साफ तो फ्लोर मिलते हैं पहुंचाएंगे गोरखेगांव का पेड़ जिका पर लपाई थे क्योंकि तो पहले को आवाम जो है जगह बहुत जो में सामान का बड़ा पैसा देकर खरीद कर रही है आवाम जी जी कला और उनके पूरे को ना किए तो वो उन्हें जरूरी जी फायदे करो जरूरत है आवाम से सस्तो और लोग गोदामन में कहा था लड़का जो जखीर हो No. 的，比如像这 जो वक्त सूरज की जगह अगर हम आसान मिलता करेंगे सुबह जो यानी कि भारतीय वक्त मुताबिक सरजमीन पेश का निंदा होकर सोएगा by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi will today dedicate various developmental projects worth 19,600 crore rupees to the nation during his Odisha visit. Mr. Modi is scheduled to arrive at Biju Patnaik International Airport at Bhubaneswar this afternoon and immediately leave for Dinapur in Chandikol of Jajpur district by an Indian Air Force chopper. He will inaugurate and lay the foundation stone of various projects relating to oil, gas, railways, road transport, national highways and nuclear power. The three-day Naval Commanders Conference 2024 will begin today with Defence Minister Rajnath Singh embarking at sea to witness the combat prowess of aircraft carriers INS Vikrant and INS Vikramaditya. The first edition of this conference is being held in a hybrid format with the inaugural session taking place at sea. According to a statement, the conference serves as a platform to deliberate on strategic, operational and administrative matters concerning and maritime security. While the defense minister will address the naval commanders, the chief of defense staff, along with the chiefs of the Indian Army and the Indian Air Force, will also engage with the naval commanders.